अंतिम प्रश्न है ये कि जीवन किस मोड़ पर आप लोक कलाओं का आकलन किस तरह से करते देखिए लोक कलाएं कभी भी लोक कलाएं क्या मतलब ये कला तो शब्द हम एक विशिष्ट परिस्थिति में करते हैं ये लोक जीवन की एक पद्धति है तो जब तक मनुष्य का सामाजिक प्राणी के रूप में अस्तित्व रहेगा तब तक लोक जीवन की ये पद्धतियाँ को उसके साथ रहना ही होगा कोई ऐसा वक्त नहीं आएगा जिस वक्त ऐसी परिस्थितियाँ हों जिसमें लोक जीवन से उद्भूत होने वाली विशिष्ट मौखिक प्रक्रियाएं किसी भी किस्म से बंद होंगी और वो निरंतर चलती रहेंगी और और उसके अपने कारण हैं वो चाहे लोक कथा हो चाहे लोक नाट्य हो चाहे लोक गीत हो चाहे किसी भी प्रकार की कोई सी भी चीज़ हो वो चीज़ें निरंतर अपने आप प्रसुफित होंगी अपने आप बनेंगी अपने आप में चलती रहेंगी अपनी अवस्थाओं के अनुकूल तो इसलिए परंपरा हमेशा कभी रूढ़िगत नहीं होती है परंपरा इतिहास नहीं है इतिहास जो हो गया उससे संबंधित है परंपरा जो आज है उससे है अब परंपराओं के स्वरूप किस तरह से हैं तो we also say that we invent lot of tradition tradition है नहीं वो लेकिन हम इन्वेंट करते हैं आज अपने शादी ब्याह होते हैं तो दीन बहू को बिठाएंगे मंच के ऊपर फिर वो एक दूसरे को माला पहनाएंगे सब ताली बजाएंगे उसमें फोटोग्राफर आएगा फोटोग्राफर घंटे पर सब लोग खड़े होंगे सब फोटो खींचेंगे ना कोई विवाह पॉसिबल नहीं है इस चीज़ के होने के लेकिन मेरी शादी से जब तो माला नहीं पहनाई थी तो मैं तो नहीं कह सकता ये परंपरा है लेकिन स्वयंवर की बातें मैंने पढ़ी हैं तो स्वयंवर की बातों को मैंने यहाँ पे लाके लागू कर दी this is inventing of tradition पहले शादी में बिलाने के लिए चावल पीले चावल भेजने आवश्यक होते थे फिर छापा खाना आया तो कंकुपत्री हुई हम्म। अच्छा कंकुपत्री भी कहाँ जाएगी कहाँ नहीं जाएगी ये बड़ा निश्चित था हर हम्म। जगह थोड़ी भेज सकते थे कंकुपत्री या चावल हरे को थोड़ी दे सकते थे हम्म। किसका हक है उसी के अंदर आएगा आज की तारीख में इन्विटेशन कार्ड भी छपते हैं तो पांच रुपये से कम से कोई इन्विटेशन कार्ड आता नहीं है पांच सौ लेके पांच सौ हज़ार रुपए तक के कार्ड जो और सिर्फ जहाँ भेजे जाना चाहिए उन्हीं के पास भेजे जाते हैं क्या वो व्यापारिक तरह से मार्केटिंग के रूप से हज़ार दो हज़ार पांच पांच हज़ार रुपए के जाते हैं नो दिस इज इन्वेंशन कान से कोई न्योता भेज रहे हैं उसमें गणेश जी भी चिपकाए हुए हैं ये सब किए हुए हैं ये सब करने हुए बावजूद भी वो tradition so how do you invent tradition and how do feel by inventing the tradition that we are doing हमारी शादी बड़ी ट्रेडिशनल तरीके से कर रहे हैं साहब और सब धंधा का ट्रेडिशन तो कोई लेना नहीं so this is a very peculiar situation लेकिन ये क्रम इसी रूप के अंदर कि जो मनुष्य के जो एसेंशियल्स हैं वो एसेंशियल्स बने रहेंगे अच्छा जब वो परिवर्तन होंगे जो मूल एसेंशियल्स परिवर्तित होते चले जाएंगे जैसे मान लीजिए आज की तारीख में लड़की का आज की तारीख में कानूनी हक है पिता की प्रॉपर्टी में लेकिन कौन लड़की है जो पिता से इस हक को मांगती कोई नहीं मैं वाइफ से कहूँ वैसे अपने बाप की प्रॉपर्टी का हक मांगो या तुम अपनी वाइफ से कहो कि ससुराल से बंट लेना तो सब सब कुछ जैसे धरती हिल जाएगी ऐसा लगे, लगेगा ऐसा काम हो जाए लेकिन ये होने के बावजूद हम जानते हैं कि दो पीढ़ी बाद तीन पीढ़ी बाद निश्चित रूप से जैसे आज बेटों के पास उस तरह से बेटी को बराबर का हक मिलेगा इसको कोई रोक नहीं सकता जो परिस्थिति हमको दिखाई दे रही है तब ये है और पांति वाले गीत सर्वाइव कर जाएंगे क्या ये सर्वाइव नहीं करेंगे ये हिस्ट्री हो जाएंगे उस वक्त उस समाज को समझने के लिए उन मूल्यों को समझने के लिए इन गीतों का ऐतिहासिक महत्व रह जाएगा उस वक्त कैसे गीत बनेंगे क्या होगा वो ये अलग किस्म की परिस्थिति यहाँ कलर यहाँ कथाओं में एक कथा हमारे कलेक्शन में आई कि एक शेर मरने के बाद में स्वर्ग में ले गए स्वर्ग में देखा तो सब कि शेर आया तो तो सबने बड़े आश्चर्य से बड़ी बड़ी पुण्यात्माएं थी वो सब आके लिए कि तुमने तो जिंदगी भर मारा ही मारा किसी को तुम स्वर्ग में कैसे आए तो कहा मुझे खुद ही बहुत आश्चर्य है मैं तो सोचा नरक में ले जाएंगे लेकिन ये मुझे स्वर्ग में लेके आ गए लोग तो मैं खुद भी सोच नहीं पा रहा हूँ कि मुझको क्यों स्वर्ग में लाए तो कभी सोच कोई कोई काम तुमने जिंदगी में ऐसा किया क्या मैं सोचते सोचते आखिर उसने कहा हाँ एक काम मुझे याद आता है कि एक पटवारी को एक बार मैं खा गया था वो उस पुण्य से मैं आ गया हूं तो मुझे पता नहीं now this is a totally contemporary situation but this story told in a through which three folk tales take take their shape. So the new society new folklore तो फिलोसफर के बारे में मजाक हैं प्रोफेसर के बारे में मजाक है रेल गार्ड के बारे में सरदार के बारे में आधार किस्से हैं ये ये जो प्रवृत्ति है ये प्रवृत्ति हर समाज के अंदर अपने ढंग से निरंतर बनी रहेगी और वो ही जिसको हम कहेंगे लोक जीवन की एक पद्धति है कला कोई जीवन से अलग होकर के नहीं है कि जिसके लिए आपको एक अलग साधना की अलग तरीके से कुछ काम किया तो वो कला का एक पक्ष है लेकिन ये जो है ये सप्रयास किया हुआ काम नहीं है ये जीवन की आवश्यकताओं के क्रम का एक भाग है उस क्रम के एक भाग को उसी तरह से चलना पड़ेगा